ए ईमान वालो जिन लोगों को तुमसे पहले किताब दी गई थी उनमें से ऐसे लोगों को अपना यारो मददगार न बनाओ जिन्होंने तुम्हारे दीन को मजाक और खेल बना रखा है और अगर तुम वाकई साहिब ईमान हो तो अल्लाह से डरते रहो